तो उसने उन दोनों को धोखे से फल खाने पर मायल कर लिया फिर जब उन दोनों ने उस दरख्त के फल को चखा तो उन दोनों पर उनके शर्म के मकाम जाहिर हो गए और दोनों जोड़कर रखने लगे अपने ऊपर जन्नत के पत्ते और उन दोनों को उनके रब ने निदा फरमाई क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था और मैंने तुम दोनों से नहीं फरमाया था कि बेशक शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है